उच्चते नाम का नाम धर्म संन्यास धर्मतम नाम मनुष्य के लिए धर्म ही धर्म है धर्म स्तंभ हमारा प्रिय धर्म क्या है भगवान तो का भगवान धन वास्तविक में मनुष्य का धन क्या है भगवान कहते हैं धर्म है धर्म वित्तम भगवान व्यक्ति मरने के बाद धर्म रूपी धन काम में आता है अपना धर्म समाया व्यक्तम कोई के लिए इसलिए जैसे ये संपत्ति शक्ति करते रहते तो धर्म का संचय करना चाहिए तम धर्म जीना धर्म शब्द ध्रुव भागने धातु से मन प्रत्यय करने का बनता और ये मन प्रत्यय कर्ता में कर्म में कर्म में तीन में होता जब मन प्रत्यय कर्ता में करते हैं तो उसकी विपत्ति होती है धरती धर्म जो लोग के संसार को धारण करता है इसलिए इसका नाम है धर्म कारण में कृपया कहते हैं कि भूलते लोक अनियम जिसके द्वारा संसार का धारण पोषण होता है उसका नाम है धर्म जब कर्म में कृत्य करते हैं तो भूलते या का धर्म जो महापुरुषों के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा स्वयं धारण किया जाता है इसलिए इसका नाम धर्म अच्छे पुरुष धर्म को धारण करते हैं तो धारणा धर्म ये क्या हूं धारण करने से इसका नाम धर्म है जायते तो दया दानिन से वर्गते क्षमायणम तिष्ठति और क्रोधान नश्यति धर्म की वृद्धि कैसी होती है मतलब दया करने से और दान करने से धर्म बढ़ता सत्याग जाए से सत्य से उत्पन्न होता है दया दानने से वर्गते दया और दान से बढ़ता है क्षमान से क्षति क्षमान निराश करता है और क्रोधान में क्षति और क्रोध से नष्ट हो जाता है अपने पुण्य को धर्म को क्रोध से बचाना चाहिए हमारे पुण्य को हमारे धर्म को हमारे पुण्य को नष्ट करता एक महात्मा ने एक श्लोक सुनाया तो होता तो तम क्षण का होता उत्तम पुरुष को कोई आकार मिले तो एक क्षण भर के लिए आता है क्रोध आया और अपने आप शांत हो गया तो उत्तम हो तो तमिल क्षण का होगा और मध्य में घटका गए और दो घड़ी तक जब क्रोध में दबा रहा है तो समझो ये दूसरी श्रेणी का व्यक्ति है उत्तम कोटि का नहीं है सेकेंड तो क्लास का व्यक्ति है दूसरी श्रेणी का दो घड़ी तक इस क्रोध में दबा रहा और आदमी की अगर आप और रात दिन चौबीस घंटे जो पेड़ में भरा है तो समझो थर्ड क्लास का तीसरी श्रेणी का और चांद मरणाम खत्म और मरण करने में तो बहुत बहुत भरे भरे पेड़ तो शांत ही नहीं हुआ तो समझो चांदार को सीता चांदारे मरणाम खत्म तो एक बिहार का भाग था तो कोई का दिन था तो एक भंगी ने सोचा कभी मेरा हाथ खाली है चलो मुझे भी स्नान करूं और बड़ा भाई पर्व है तो वो दयालियों के भाग में भंगी स्नान करा इसलिए में कोई दयाली आ गया और उसने पहचान दिया भंगी उसने तो हमने कहा कि हमारे हाथ को कैसे आया मैं कैसे नया मैंने कहा महात्मा जी इस समय तो स्थान खाली था और मैं स्नान करूं अरे तू आया तो आया से कट गया तो मारा तीन टाणों से पीटा मेरे में आरोप पड़ाया वो बंदी जा करके फिर दूसरी जगह नहाने लगा किसी ने कहा कि हम वहां पर नहा करके आया झगड़ा हुआ तेरा और यहाँ पर नहाया बोला मैं शानदार से छू गया हूं इसलिए नहाया शानदार से छू गया अरे शानदार की है तो वह शरीर का कांडाल हो वो मन का कांडाल शरीर के कांडाल को सुनने से इतनी छूट छूट नहीं लगती मन के कांडाल से तो नहीं सुना कांडाल मेरा नाम कदम तो क्रोधाम नष्ट धर्म जो क्रोध से नष्ट होता है सत्य से उत्पन्न होता है दया और दान से वृद्धि को प्राप्त होता है क्षमा में निवास करता है क्रोध से नष्ट हो जाता है बताता है दानम दरिद्र से सर्वक्षण यूनाम तथा बताम इच्छा निवृत्ति दया से भूते ये छह साधन व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाने के हैं शरीर को दान किया करता है ये थोड़ी है कि बड़े आदमी लखपति करोड़पति हो वही दान करें दान तो सबको करना चाहिए ना दान अनुदान के सर्वोक्षम स्वयं और समर्थ होता के जो दूसरे के अपराध को क्षमा कर देता सर्वोक्षम स्वयं और यूनान कहा और युवावस्थानियों का संयम करके वो तप करने लगता ज्ञान बताने के मौन शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी वो मौन रहता इच्छा निरंतिश से प्रसोषिता नाम घर में सारी शक्ति सामग्री है पर वहां उनमें से अपनी इच्छा को निरुद्ध कर लेता सब प्रकार की सुविधा सामग्री होने पर भी वो साधन से रहता दया के विपरीत ही अवस्थानियों पर दया करता है ये जीवन की ये साधन जीव को स्वर्ग मिले ले जाते दानम दरिद्र के प्रवोक्षण स्वम न्यूनम शिक्षा निवृत्ति सुपोषिता दया के सूते सुजीवन नयंती ये पुराणों किसी पुराण का श्लोक है उसकी कथा ये है कि गंगा किनारे जो ब्राह्मण पंजा कर रहे थे सूर्य के अर्घ देख करके गायत्री का जप कर रहे थे यमराज ने अपने दूस को बुलाया और कहा कि तुम दो जो ब्राह्मण हैं इनमें एक जो ये है इसकी आयु पूरी हो चुकी है और इसको तुम हमारे यहां ले आ आज हमारे यहां श्राप दिए जल्दी कर लेगा और इसको यहाँ हो तो वो यमराज ने जो अपने दूतों को भेजा तो उसके भूल हुई जिसकी और संकेत किया था जिसको बताया था तो उसको मिलाकर के दूसरे से वहां पहुंचे और उसके जीवात्मा को लेकर के वहां पहुंचे वो जब करते करते जब उस जीवात्मा को प्राण लेकर के जीवात्मा को लेकर के यमराज के दूध गए तो उसका शरीर धनाम को भी गिर जाए वो दूसरा जब कर रहा था वो तो मेरा साथी अकस्मात क्या हो गया गिर गया उसने उसको संभाला तो फिर घर को जब घर में जाकर के उसको सूचना दी कि भाई बड़ी अच्छी मृत्यु हुई हमारा साथी था जब से तक करते करते उसकी मृत्यु हो गई है और उसके घर के रोते पीटते आए उसकी स्त्री आई अपना कंधा उतार दिया हाहाकार करने लगी तो उसके उस मकान में ले जाने के लिए उसकी तैयारी होने लगी और वो उनको समझाने लगा अरे भाई क्या देखो मृत्यु कैसी बढ़िया हो ये शोक की बात नहीं है दुख की बात नहीं और जब वो यमदूत जीवात्मा को ले गए तो यमराज ने कहा यमराज तो पहचानते हैं अरे तुम ये क्या किया अरे तुमने बड़ी भूल की हमने जो तो दूसरा है बंदर उसके लिए कहा था ये उसका साथी है अभी तो इसका जीवन बाकी है जल्दी से जल्दी इसके शरीर में प्रवेश करो जब तक इसके घरधारी इसके शरीर को दर्द न कर दें न जला दें तब तक जल्दी से इसके जीवात्मा को ले जाकर उसमें प्रवेश करो और ब्राह्मण ने वहां जाकर जो बंधव देखा स्वर्ग का वो कहने लगा आप जो कि महाराज क्या क्या है हम भूल से आए तो भूल से ही कही यही हमारा कोई भाग्य था तब आ रहे तो हमको संसार में क्यों भेज देगा तब नहीं नहीं अभी तुम्हारे भोग बाकी है अभी तुमको जाना पड़ेगा तो उसने पूछा तो फिर ये बताओ कि हम जाकर के क्या साधन करेंगे तुम्हारे स्वर्ग में चलाने तो वहां यमराज ने जो श्लोक बोले हैं बताए हैं पूरे श्लोकों में से ये श्लोक एक है जो हम बोल रहे हैं दानम दरिद्रव्य प्रभो क्षणित्व यूना तपाजानवताम् च मौनम् सुखोचिता दया चूते कृतेषु दिवम् तत्काल वहां से यमदूतों ने लेकर के उस ब्राह्मण को उसकी शरीर में प्रवेश करा और वो तो उस करके गया और तो तत्काल जब उसका पति जीवित होगा उसने अपना सारा परिणाम अपना पूरी पूरी से कहेंगी और सब उसके घर वालों का शोक दूर हो गया अब जो समझा रहे हैं किया वो रोने लगे दूसरा साथी था कहा समझो मेरा वो मर गया ये धर्मो रक्षक कामता नहीं यत्र कोकुल रक्षता धर्म हमारी वहां रक्षा करता है जहां कोई रक्षक नहीं होता दूसरा धर्म हमारी वहां रक्षा करता श्री कपासी जी महाराज कहा करते थे देखो धर्म ही रक्षा नहीं करता कौन करता है ऐसे उन्हें उदाहरण दिया जाता ये समझो किसी व्यक्ति की कोशिश शहर के बाहर और किसी विवाह शादी में वो घर वाले पर चले गए वहां केवल उसकी एक बहन है सोलह सत्रह वर्ष की एक भाई है बीस बाईस वर्ष का दोनों बहन भाई वहां अपने कोठी में रह रहे हैं दोनों की विवाहवस्था है फिर ये दोनों एकांत होती रहते हुए भी फिर भी उनको चंदन से रह रहे हैं तो वो समझती है कि ये तो मेरा धर्म का भाई है वो समझता है कि मेरी बहन है कभी किसी प्रकार का विकार उनके चित्त में उदय नहीं होता निर्मल गंगाजल के समान उनके दोनों के हृदय बंद रहते हैं उनकी रक्षा कौन करता है अगर धर्म को न मानो धर्म कोई चीज नहीं है तो वो क्या सुरक्षित रह सकते हैं तो धर्म रक्षक कामकार यत्र को में रखा था धर्म हमारी वहां रक्षा करता है जहां कोई दूसरा रक्षक नहीं भीषण पिताजी से युधिष्ठिर ने पूछा कहीं धर्म की प्रशंसा आती है कहीं अर्थ की प्रशंसा आती है कहीं काम की प्रशंसा आती है इन तो तीनों में कौन श्रेष्ठ है अर्थ की बड़ी प्रशंसा मनुष्य विद्य के नीचे की जगत ही मनुष्य गति संसार में ऐसी कोई गति नहीं है जो तो पैसे से नहीं मिल जाती यज्ञ मतमान सपना अर्थ में कम होता है बुद्धिमान को चलिए तो पहले पैसा इकट्ठा करें धन इकट्ठा यश्यार्थ है तो ये प्राण यश्यार्थ है तो अस्य बाण हुआ अभी जिसके पास धन होता है उसके मित्र स्थिति बन जाते हैं बन विधानदार उसके सब अपने हो जाते हैं यश्यार्थ मान लो कि यश्यार्थ है सतपन देता हिरण्य के लिए पहले करो तो सुनाए जिसके पास पैसा होता है दूसरे लोग भी दूर दूर का संबंध निकाल के आकर के उसके बन जाते हैं और जिसके पास पैसा नहीं है या अपने अपने संबंधी में उसको ठुकरा देते तो इसलिए संसार में धन की बड़ी प्रश्न किसी ने कहा यज्ञ सोचे तो जो है तो तब तक काम सुरक्षित और काम संसार के विषय हो इसी की धन भी तो इसी के लिए होता है संसार की वस्तुओं के सेवन के लिए किसी ने कहा नहीं धर्मा का सत्य काम से शास्त्र मत समझते और काम की प्राप्ति पर उसका मूल पर धर्म है कहते हैं कि पिताजी ने बताया भूषण के बारे में कहते हैं कि कामा आप पता करके बताइए उन्होंने कौन से भीष्म कथा कहते हैं मैं पहले हम तुम्हें कथा सुनाते हैं शांति का उन्होंने कथा भीष्म कथा कहते हैं कि युधिष्ठिर एक ब्राह्मण था उसको धन की बहुत इच्छा थी बड़ी कामना अपने अनेक देवताओं की उपासना की देवताओं की बहुत दिनों प्रार्थना की हमको देवी नहीं मिला जब नहीं मिला तब किसी ने रहा बताया कि शिव जी की प्रार्थना करो तो उसने बहुत दिन का शंकर की बात प्रार्थना वहां कोई कुछ नहीं मिला उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की प्रार्थना करें वहां लक्ष्मी भी रहती है जिनके पास लक्ष्मी ने है तो चाहिए थी भगवान विष्णु की प्रार्थना थी वहां पर भी कुछ नहीं मिला जो करा करके फिर बच्चे को अपनी गोद में ले भगवान शंकराचार्य कहते हैं महाराज इसलिए मैं भी मेरे रूपी मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूं तो आपने माया के गोद में हमको दे दिया है पालन पोषण करने के लिए माया हस्ते परिस्वा भरण कृत कृत मोह मूलोद्भवन मान स्नान ध्यान एक पूरे समय लेगा तीन भावों बता दी आपका बहुत दिन हो गए उस माया के गोद में खेलते खेलते हमको और तुम हमको भूल गई मैं आपका ही बालक हूं और माया के को सौंप दिया भरण पोषण के लिए और मेरे से बाकी हो रही जैसे लौकिक माता पिता की मूर्ति शांति करा करके बच्चे को गोद में ले देते हैं और आप मेरी मेरे तो की मृत्यु कर सकते इसलिए आप भी कृपा करके मेरे नियमों की मूर्ति शांति करके अपनी शरण हमको माया हस्ते भरण कृत्य मोहमूल ब्रह्मा माता कृष्णा विधाने चिर समय विवासी में भागम कारण देवता विवाह है आपका कर्म तो कारण है बचकर यजनम देख सके तो मरियम ये बात भी मेरा मुझे देखा आपने रखे पर सर्वज्ञ न सर्वम प्रवत भगवती चिन्ह शांति आप सर्वज्ञ हो हुए सर्वशक्तिमान होते हुए क्या लोगों की की शांति नहीं कर पाते लोगों की मूल की शांति करके आप अपनी शरण ग्रहण को तो ये भगवान के भक्त हुए हैं भगवान से ऐसी प्रार्थना हैं तो इसलिए संसार में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जहां जीव को सुख और शांति मिलती हो जीव को सुख और शांति मिलती है भगवान की शरण क्योंकि तो वे सच्चिदानंद स्वरूप है सचित आनंद उनका स्वरूप है तो वही आनंद वही शांति वही सुख जीव को मिलेगा अनादिकाओं को एक जीव तक रहा है हुआ संसार में भैया जी तीन वस्तुओं को सार बताया असारे फल संसार त्रीन सारान भाव ये संसार देखो असार है इसमें कुछ सार नहीं है तन्मात्र सारम निस्तारम परम सार संग इसमें भी तो केवल दशा मात्र सार है ये हम लोगों के शरीर पर जो पत्नी पत्नी त्वचा करी है बस नहीं है सब कुछ इसी में व्यवस्था है इसी में आकर्षण है और ये पत्नी पत्नी त्वचा को हटा करके देखो तो क्या है मान हृदय मन मूत्र इसमें भरा ब्रह्मांड निस्तारण सदरी सारण एवं केंद्रीय वृक्ष में जैसे कोई सार भाग नहीं होता केंद्र से छिलकी को उतारा तो उसमें भीतर भी प्रक्षेपण परिचेतन है वो नहीं होता ऐसे संसार में केवल कम मात्र साधन है ये जो स्त्री पुरुषों के शरीर है ये पत्नी पत्नी ये त्वचा कर रही है इसमें सब कुछ मोहता इसी में रखना और फिर क्या रखा उसमें सात सार है पूरा तीन वस्तु सार संगा केशरी भक्ति और गंगामृत सब सत्पुरुषों का संग भगवान की भक्ति और समय समय पर गंगा का स्नान ये तीन वस्तु साधन सबसे पहले सत्संग सत्पुरुषों का सत्संग से ऐसा होता है किसी महापुरुष के साथ आप बैठेंगे उसके संग के प्रभाव से जो उसके हृदय में जो सदगुण है वो आपके हृदय में आ जाए उसके हृदय का ज्ञान और भक्ति आपके हृदय में भी आ सकता है तो एक महात्मा अपने जीवन भर के अनुभव को आपके को थोड़े दिन में बता सकता है जैसे एक दीपक जल रहा है उससे और दीपक भी जल सकते हैं और में और में भी प्रकाश आ सकता है किसी मंदिर में एक दीपक जल रहा हो तो तुम अपना भी दीपक ले रहा हो उससे लगाए तो उसमें भी प्रकाश आ जाएगा ऐसे जीवन तक में ज्ञान और भक्ति नहीं है उम्र तक में ज्ञान और भक्ति आ सकती है एक किसी संस्था महात्मा का भक्त का कर्म करने से और फिर ज्ञान और भक्ति जाता तो एक संवाद के संग से एक संवाद के प्रवचन से सहस्त्रों और सौ के बच्चों के हृदय में वो ज्ञान और भक्ति का उदय हो गया तो इसलिए भक्त संवाद कहते हैं कबीर जी मृत्यु को जब देखा कबीर जी ने ये हमारी मृत्यु का समय है और रोने गए उन्होंने कहा महाराज क्यों वो तो भाई ये राम बुलावा आ गया अब जाना है हमको तो महाराज आपको तो सब तरह से पहले से इसलिए विवेकी और भक्त समय थे कि रोने से क्या बात अरे रोने की बात ये है राम बुलाया आलिया दिया कविंदा रोए जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ यहां जो स्वाद आ रहा था महात्माओं में वैद्य के सदन में साधु संग में सत्संग में जो आनंद आ रहा था और वैकुंठ में काम गए बोले बोले की बात है और सत्संग सत्संग रूपी जल में सत्संग का प्रक्षालन प्रतिदिन करना चाहिए जैसे हम वस्त्र नहीं होते तो मैले हो जाते हैं अगर स्नान आप न करो तो शरीर गंदा हो जाएगा बदली आने लगेगी वस्त्र न भूलेंगे गंदे हो जाएंगे ऐसे लोगों की जल में अगर अंतकरण का प्रक्षालन नहीं होगा तो मन ही गंदा होगा वस्त्र मेरे हो तो कोई चिंता नहीं शरीर गंदा हो तो चिंता नहीं और मन मलिन नहीं होना चाहिए मन में मैल नहीं होना चाहिए भगवान ने कहा है निर्मल मन जन मूल स्वभाव जिसका मन पवित्र है निर्मल है वो हमको अच्छा लगता है जिसका तन निर्मल हो जिसका वस्त्र निर्मल हो वो हमको अच्छा नहीं लगता दोनों संसारियों को अच्छा लगता है और कैसी बढ़िया साड़ी कैसी बढ़िया धोती कैसा बढ़िया बन गया है तो ये स्थान और वस्त्र को निर्मल संसार के लोग देखते हैं भगवान कहते हैं उनको तो जो जिसका मन निर्मल है मन में राजा दोष नहीं है वो व्यक्ति हमको अच्छा लगता तो ये सत्संग जल में मन का प्रक्षालन अंतकरण का प्रक्षालन प्रतिदिन करना चाहिए सत्संग ये पहली बात सत्संग के प्रभाव देखो तो नारद जी के सत्संग के प्रहलाद भक्त बन गए ध्रुव भक्त जिनको भगवत प्राप्ति हुई एक तो कथा आती है पुराण में कि विश्वामित्री जी और वशिष्ठ का विवाद हो गया विश्वामित्र तो को बड़ा बहुत बड़ा बताते बस सीधी सत्संग की महिमा बताते अरे सत्संग के बिना कुछ अब दोनों को ऋषियों का विवास कर उनका निर्णय कौन करे तो उन दोनों का चलो हम भगवान शेष के पास चलते शेष भगवान के पास गए दोनों ऋषि विवाह करते हुए भगवान से समझ गए कि मेरे दोनों का विवाद है और हमको तो निर्णय देना है जाकर के महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं पूछना चाहते हैं हमारा दोनों का विवाद आप शांत कर दीजिए वशिष्ठ बोले हमारी का तो तुम का भाग रखा है तुम हमसे प्रश्न पूछते हो हम उत्तर देंगे पहले तुम का भाग पर तो संभालो विश्वास ने बता दो तुम अपने समस्या का भाग शक्ति लगाना जो तुमने जीवन में तपस्या की है उसके बल से पूरे के लिए पृथ्वी का भाग ले लो धन स्थाप कर देंगे बहुत विश्वामित्र जी ने जन्म लेकर संकल्प किया मैंने जो जीवन में तपस्या की हो उसके बल से ये घुमा भूमंडल रुक जाए बहुत भगवान श्री जब से हटाने लगे तो भूकंप आने लगे ज्वार भाषा में बोले कि नहीं बदले तुम्हारे पक्ष के बदले फिर बसेश्वर जी से कहा बसेश्वर ने कहा कि महाराज मैंने जो जीवन में सत्संग किया उसको एक देश मात्र से कि ब्रह्मांड रुक जाना था ब्रह्मांड रुक को तो बस तो हो गया मेरे चलता बात होता है कर सुख हरिय लाल सुख मेरे में शायद सकल में दोष को अलग सकता तो ये अपारे सल संसारे तीन सारा भाव सत्संगा केशव भक्ति ही भगवान की भक्ति सत्पुरुषों का संग और समय समय पर गंगा का स्नान मुझे श्री कृष्ण श्री राम जय राम जैसे संन्यास आत्म सबसे बड़ा माना जाता है और कर्म जैसे पारस नहीं सर्वोत्तम इसी प्रकार भगवान के जितने नाम हैं उनमें राम नाम सबसे श्रेष्ठ है यद्यपि प्रभु नाम अनुता शुक्र का अधिक रूप करने का राम सकल नाम के अधिकार तुलसीदास जी के राम के नाम की ही वंदना करते हैं